मैं शहर रामेश्वरम के एक मिडिल क्लास तमिल खानदान में पैदा हुआ मेरे अब्बा जैनुल के पास न तालीम थी न दौलत लेकिन इन मजबूरियों के बावजूद एक दानाई थी उनके पास और हौसला था और मेरी मां जैसी मददगार थी आशी अम्मा उनकी कई औलादों में एक मैं भी था बुलंद कामत माँ बाप का एक छोटे से कद वाला मामूली शक्ल सूरत का लड़का अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे हम जो कभी उन्नीसवीं सदी में बना था काफी वसी और पक्का मकान था रामेश्वरम की मस्जिद स्ट्रीट में मेरे अब्बा हर तरह के ऐशो आराम से दूर रहते थे मगर ज़रूरियात की तमाम चीज़ें मुयसर थीं सच तो यह है कि मेरा बचपन बड़ा महफूज था मादी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी मटीरियली एंड इमोशनली रामेश्वरम का मशहूर शिव मंदिर हमारे घर से सिर्फ दस मिनट की दूरी पर था हमारे इलाके में ज्यादा आबादी मुसलमानों की थी फिर भी काफी हिंदू घराने थे जो बड़े इतफाक से पड़ोस में रहते थे हमारे इलाके में एक बड़ी पुरानी मस्जिद थी जहां मेरे अब्बा मुझे हर शाम नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करते थे रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे अब्बा के पक्के दोस्त थे मेरी बचपन की यादों में आंकी हुई एक याद ये भी थी कि अपने अपने रवायती लिबास में बैठे हुए वो दोनों कैसे रूहानी मसलों पर देर देर तक बातें करते रहते थे मेरे अब्बा मुश्किल से मुश्किल रूहानी मामलों को भी तमिल की आम जबान में बयान कर लिया करते थे एक बार मुझसे कहा था जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती हैं मैंने हमेशा अपनी साइंस और टेक्नोलॉजी में अब्बा के असूलों पर चलने की कोशिश की है मैं इस बात पर यकीन रखता हूं कि हमसे ऊपर भी एक आला ताकत है एक महान शक्ति है जो हमें मुसीबत मायूसी और नाकामियों से निकालकर सच्चाई के मुकाम तक पहुंचाती है मैं करीब छह बरस का था जब अब्बा ने एक लकड़ी की कश्ती बनाने का फैसला किया जिसमें वो यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकुड़ी का दौरा करा सकें ले जाएं और वापस ले आएं वो समंदर के साहिल पर लकड़ियां बिछाकर कश्ती का काम किया करते थे एक और हमारे रिश्तेदार के साथ अहमद जलालुद्दीन बाद में उनका निकाह मेरी आपा जोहरा के साथ हुआ अहमद जलालुद्दीन हालांकि मुझसे पंद्रह साल बड़े थे फिर भी हमारी दोस्ती आपस में जम गई थी हम दोनों हर शाम लंबी सैर को निकल जाया करते थे मस्जिद गली से निकलकर हमारा पहला पड़ाव शिव मंदिर हुआ करता था जिसके गिर्द हम उतनी ही श्रद्धा से परिक्रमा करते थे जिस श्रद्धा से बाहर से आए हुए यात्री जलालुद्दीन ज्यादा पढ़ लिख नहीं सके उनके घर के हालात की वजह से लेकिन मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूं उन दिनों हमारे इलाके में सिर्फ वही एक शख्स था जो अंग्रेजी लिखना जानता था जलालुद्दीन हमेशा तालीम याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के बारे में बातें करते थे साइंस की ईजाद मेडिसन और उस वक्त के लिटरेचर का जिक्र किया करते थे एक और शख्स जिसने बचपन में मुझे बहुत मुतासर किया वो मेरा कजन था मेरा चचेरा भाई शमसुद्दीन उसके पास रामेश्वरम में अखबारों का ठेका था और सब काम अकेले ही किया करता था हर सुबह अखबार रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पहुंचता था सन उन्नीस में दूसरी आलमगीर जंग शुरू हुई द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस वक्त मैं आठ साल का था हिंदुस्तान को इत्तेहादी फौजों के साथ शामिल होना पड़ा और एक इमरजेंसी के से हालात पैदा हो गए थे सबसे पहली दुर्घटना यह हुई कि रामेश्वरम स्टेशन पर आने वाली ट्रेन का रुकना कैंसिल कर दिया गया और अखबारों का गठा अब रामेश्वरम और धनुषकोड़ी के बीच से गुजरने वाली सड़क पर चलती ट्रेन फेंक दिया जाता शमसुद्दीन को मजबूरन एक मददगार रखना पड़ा जो अखबारों के गठे सड़क से जमा कर सके वो मौका मुझे मिला और शमसुद्दीन मेरी पहली आमदनी की वजह बना हर बच्चा जो पैदा होता है वो कुछ समाजी और आर्थिक हालात से जरूर असरअंदाज होता है और कुछ अपने जज्बाती माहौल से भी उसी तरह उसकी तरबियत होती है मुझे दयानतदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने अब्बा से वरासत में मिला था और मां से अच्छाई पर यकीन करना और रहम दिली लेकिन जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की सोहबत से जो असर मुझ पर पड़ा उससे सिर्फ मेरा बचपन ही महज अलग नहीं हुआ बल्कि आइंदा जिंदगी पर भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ा இரவயத்து முந்தி இருப்பச்செயல் தந்தை மகற்கு ஆற்றும் நன்றி அவயத்து முந்தி